ए लोगो यकीनन तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से खुली दलील आ चुकी है और हमने तुम्हारी तरफ वाज नूर उतारा है